सदा एक रूप में रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूपों में प्रतीत होने वाला प्राकृत जगत क्षर कहलाता है सारांश यह है कि एकत्व ही अक्षर है और नानत्व को ही क्षर कहते हैं जब जीवात्मा 25वें तत्व परमात्मा में स्थित हो जाता है उस समय उसकी सम्यक स्थिति बताई जाती है एकत्व और नानत्व दोनों रूपों में उस परमात्मा का ही दर्शन होता है तत्ववेत्ता पुरुष एकत्व और नानत्व दोनों के पार्थक्य को भली भांति जानता है मनीषी पुरुष तत्वों की संख्या 25 बतलाते हैं परंतु उसमें 25वां तत्व परमात्मा है जो तत्वों से विलक्षण है राजन योगी का प्रधान कर्तव्य है ध्यान ध्यान ही योगी का सबसे बड़ा बल है योग विद्या के ज्ञाता विद्वान पुरुष मन की एकाग्रता और प्राणायाम ये ध्यान के दो भेद बतलाते हैं योगी को सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए वह रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को परमात्मा में लगाकर अंतःकरण में उनका ध्यान करे मिथिलेश्वर संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा स्थिर करके मन को भी बुद्धि में स्थापित कर दे और पत्थर की भांति अविचल हो जाए तभी उसे योग युक्त कहते हैं जिस समय उसने सूंघने सुनने स्वाद लेने देखने और स्पर्श करने का भी भान नहीं रहता जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा वह काठ की भांति स्थिर होकर किसी भी वस्तु का अभिमान या सुदबुद्ध नहीं रखता उस समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूप को प्राप्त योग युक्त कहते हैं ध्यान अनिष्ट योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि किरण मालाओं से मंडित सूर्य तथा विद्युत के प्रकाश की भांति तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है धैर्यवान मनीषी वेदवेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है सर्वत्र संपूर्ण भूतों में स्थित होते हुए भी वह किसी को दिखाई नहीं देता वेदों के पारगामी तत्वज्ञ विद्वानों ने उसे तम से दूर अज्ञानांधकार से परे बताया है वह निर्मल एवं लिंग रहित है यही योगियों का योग है इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है इस प्रकार साधना करने वाला योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करता है यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन का यथार्थ स्वरूप बतलाया अब सांख्य का वर्णन करता हूँ यह विचार प्रधान दर्शन है राजन प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जो महतत्व कहलाता है महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति सुनी गई है सांख्य दर्शन के ज्ञाता विद्वान अहंकार से सूक्ष्म भूतों का पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव बतलाते हैं इन आठों को प्रकृति कहते हैं इनसे सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है जो विकृति कहलाती है पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां ग्यारहवा मन तथा पांच स्थूल भूत ये ही सोलह विकार हैं ये प्रकृति और विकृति मिलकर चौबीस तत्व होते हैं सांख्य दर्शन में तत्वों की इतनी ही संख्या मानी गई है सांख्य मार्ग पर स्थित एवं सांख्य विधि के ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है अर्थात प्रकृति से महत तत्व महत तत्व से अहंकार तथा अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है किंतु उसका संहार विलोम क्रम से होता है अर्थात पृथ्वी का जल में जल का तेज में और तेज का वायु में लय होता है इसी प्रकार सभी तत्व अपने-अपने कारण में लीन होते हैं जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं उसी प्रकार संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम में लीन होते हैं नृपश्रेष्ठ इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है ज्ञान निपुण पुरुषों को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए प्रकृति का अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है उसके विषय में भी यही बात है वह भी प्रकृति से संबंध रखने पर एकत्व और नानत्व को प्राप्त होता है प्रलय काल में तो वह भी एक ही रूप में रहता है किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है परमात्मा ही प्रकृति को प्रसव के लिए उन्मुख करके उसे अनेक रूपों में परिणत करता है प्रकृति और उसके विकारों को क्षेत्र कहते हैं 24 तत्वों से जो 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है वही उस क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप में निवास करता है वह क्षेत्र को जानता है इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पुर शरीर में शयन करता है इसलिए उसे पुरुष कहते हैं वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 25वां तत्व परमात्मा है जब पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है उस समय वह अद्वितीय परमात्म रूप में स्थित होता है इस प्रकार मैंने तुम्हें सम्यक दर्शन सांख्य का यथार्थ वर्णन किया जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे समस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं महाराज इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध सनातन आदि ब्रह्म के यथार्थ तत्व का वर्णन किया है तुम मात्सर्य का त्याग करके अपनी बुद्धि से इस तत्व को ग्रहण करो असत्यवादी शठ नपुंसक कुटिल बुद्धि वाले अपने को पंडित मानने वाले तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए शिष्य को बोध कराने के लिए ही इस तत्व का उपदेश करना उचित है जो श्रद्धालु गुणवान पराई निंदा से दूर रहने वाले विशुद्ध योगी विद्वान वेदोक्त कर्म करने वाले क्षमाशील तथा सबके हितैषी हों वे ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं जितेंद्रिय तथा संयमी पुरुष को इसका उपदेश अवश्य देना चाहिए महाराज कराल तुमने मुझसे आज परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए नरेंद्र तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया था उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह उपदेश किया है कोई दूसरी बात नहीं कही है यह महान ज्ञान मोक्षवेत्ता पुरुषों का परम आश्रय है यह मुझे साक्षात ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है व्यास जी कहते हैं मुनिवरों पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जिस प्रकार 25वें तत्व रूप परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया था उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं आता यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुआ वशिष्ठ जी से देवर्षि नारद को मिला और देवर्षि नारद से मुझको प्राप्त हुआ वही यह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगों को बताया है यह परम पद है इसका श्रवण करके अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए जिसने क्षर और अक्षर के भेद को जान लिया उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता जो उन्हें ठीक-ठीक नहीं जानता उसी को भय है मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता और मरने के बाद पुनः हजारों बार जन्म मृत्यु के कष्ट भोगता है वह देव मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियों में भटकता रहता है अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त अगाध और भयंकर है इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी डूबते चले जा रहे हैं तुम लोग यह उपदेश सुनकर इस अगाध भव सागर से पार हो गए हो अब तुम में रजोगुण और तमोगुण का भाव नहीं रह गया तुम्हारी शुद्ध सत्व में स्थिति हो गई है मुनिवरों इस प्रकार मैंने सार से भी सारभूत परम तत्व का वर्णन किया यह परम मोक्ष रूप है